जिनकी रूहें फरिश्तों ने इस हालत में कब्ज़ की जब उन्होंने अपनी जानों पर कुफ्र की वजह से जुल्म कर रखा था इस मौके पर काफिर लोग बड़ी फर्मा के बोल बोलेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे उनसे कहा जाएगा कैसे नहीं करते थे अल्लाह को सब मालूम है कि तुम क्या कुछ करते रहे हो